बेशक जो कुछ जमीन पर है हमने उसे इस जमीन की जीनत बनाया है ताकि हम लोगों को आजमाएं कि उनमें से अमल के एतबार से कौन अच्छा है